तो उसको परिच्छिन्न मत समझो उसमें भी परिच्छिन्न को व्यापक समझो सालग्राम की पूजा करो परंतु ईश्वर बुद्धि से पत्थर की बटिया समझ के मैं नहीं करना पार्थिव पूजा करो अच्छा, प्रांत की सेवा करो राष्ट्र की सेवा करो विश्व की सेवा करो ये सब कार्य की सेवा है है ना वर्ग की सेवा करो संप्रदाय की सेवा करो जाति की सेवा करो और मानवता की सेवा करो और प्राणी मात्र की सेवा करो ये क्या है ये सब कार्य की सेवा है लेकिन सेवा पितर की सेवा करो देवता की सेवा करो श्राद्ध करो होम करो लेकिन ईश्वर दृष्टि रख के सेवा करो कि ये ईश्वर रूप है माता पिता है ना पति पुत्र परिवार वर्ग जाति संप्रदाय समाज मानवता सबकी सेवा करो और अपना घर अपना मोहल्ला अपना गांव अपना प्रांत अपना राष्ट्र है ना और संपूर्ण विश्व सबकी भौगोलिक दृष्टि से अपने घर से लेकर के संपूर्ण विश्व तक ये भौगोलिक दृष्टि हुई और जातीय दृष्टि से मानवता और प्राणी मात्र तक पारिवारिक दृष्टि से और प्रतीक दृष्टि से पार्थिव पूजा से लेकर के हिरण्य गर्भ तक सबकी पूजा करो लेकिन ईश्वर बुद्धि मत छोड़ो ये शास्त्र का अभिप्राय है अच्छा ईश्वर बुद्धि छोड़ के करेंगे तो क्या होगा राष्ट्र राष्ट्र से लड़ेंगे प्रांत प्रांत से लड़ेंगे जाति जाति से लड़ेगी समाज समाज से लड़ेगा वर्ग वर्ग से लड़ेगा है ना सालग्राम नर्मदा शंकर से लड़ेंगे है ना रामा दल श्यामा दल से लड़ेगा है ना निराकारी दल साकारी दल से लड़ेगा हिंदू दल मुसलमान दल से लड़ेगा अगर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारण दृष्टि ईश्वर दृष्टि छोड़ दी जाएगी और केवल कार्य दृष्टि से उपासना की जाएगी तो भेद दृष्टि होने के कारण राग द्वेष हो जाएगा और राग द्वेष हो जाएगा तो हृदय तो शुद्ध होगा ही नहीं तब अद्वैत की ओर बढ़ोगे नहीं अच्छा बोले फिर आओ कारण ही कारण की ईश्वर ही ईश्वर की उपासना करें है ना तो बोले तब उसमें अपने माता के प्रति पिता के प्रति परिवार के प्रति है ना गांव के प्रति प्रांत के प्रति राष्ट्र के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है है ना उस कर्तव्य की उपेक्षा हो जाएगी ईश्वर दृष्टि करने से केवल ईश्वर दृष्टि ईश्वर की उपासना करने से संध्या वंदन छूट जाएगा अग्निहोत्र छूट जाएगा देव पूजा छूट जाएगी और कर्तव्य के श्राद्ध छूट जाएगा हाँ, नारायण और कर्तव्य त्याग का जो प्रत्यवाय है सो तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा तो इसीलिए श्रुति ने ये बताया कि जब सालक ग्राम की पूजा करो माता की पूजा करो संप्रदाय की पूजा करो जाति की पूजा करो तो एक ही ईश्वर सब में है और ये हमारे लिए उसका पूजा स्थान है ये ब्राह्मण ये गाय ये सन्यासी है ना हाँ। और जब ईश्वर की पूजा करो तब देखो कि संपूर्ण विश्व रूप जो कार्य है उसमें ईश्वर ही ईश्वर है यदि ऐसे उपासना करोगे तो एक ओर तो कर्तव्य त्याग का प्रत्यवाय नहीं लगेगा और दूसरी ओर हृदय में राग द्वेष नहीं होगा इसी को संभूति विनाशंच जस तदेदो भयम सह विनाशे न मृत्युम तीर्थवा संभूतिया मृतम अश्नोते यही पाठ आप रोज करते हैं ये संभूति माने कार्य कार्योपाधिक ब्रह्म है ना और असंभूति माने कारणोपाधिक ब्रह्म कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म दोनों की समुचित उपासना करना तो उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया कैसी उपासना तो शास्त्र में वर्णन आया कि सक्रतुम कुर्बीत मनुष्य को अपने कर्म अवश्य करने चाहिए अमुम यज अमुम यज ईश्वर की उपासना कर पितर पितर की श्राद्ध कर देवता की पूजा कर इसमें क्या लाभ है वो भी शायद आपको सुनाया हो कभी है ना ये पितर की पूजा से देवता की पूजा से इतनी बात मालूम पड़ती है कि आत्मा देह से अतिरिक्त है बिना कॉलेज खोले बिना सत्संग भवन बनाए है ना गांव गांव में सत्संग भवन थोड़े बनेंगे कि समझाया जाए कि आत्मा देह से न्यारा है, है? पर गांव गांव में श्राद्ध तो हो सकता है ना तो श्राद्ध किसके लिए करते हैं बोले मरे हुए के लिए का वो अगर शरीर से अलग न होता तो उसके लिए श्राद्ध क्यों किया जाता देखो आत्मा देहातिरिक्त है पाप पुण्य का फल मिलता है हैं? इसलिए मनुष्य को सावधान होकर के कर्म करना चाहिए है ना और वासना के अनुसार जोनी मिलती है ये सब बात ध्यान में रहेगी तो मनुष्य जो है वो अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करेगा श्रद्धा के साथ व्यतीत करेगा उसके अंतकरण की शुद्धि होगी अच्छा अब ईश्वर दृष्टि करेगा तो सर्वत्र सम बुद्धि रहेगी इसी से सक्रतुम पूर्वी तो आत्मे तेव उपासित तो ये सब श्रुतियां उपासना की विधि करते हैं उपासना करनी चाहिए कर्म करना चाहिए और दूसरी श्रुति आत्मा बा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निर्ध्यातितव्य आत्मा का दर्शन करना चाहिए तो बोले भाई तीन श्रुति हो गई एक ने कहा कि कर्म करना चाहिए एक ने कहा उपासना करनी चाहिए एक ने कहा कि आत्मा का दर्शन करना चाहिए ये तीन तरह की श्रुति क्यों बोले कि जो देहाभिमानी है और महाराज किसी को ऐसा भ्रम होता है बेटे से तो प्रेम है है ना धन से भी प्रेम है सुख भोग से भी प्रेम है मरने का डर है शरीर से प्रेम है है ना और उसको भ्रम यह हो जाता है कि मैं निराभिमान हूं मुझे किसी से आसक्ति नहीं है हैं माने वो अपने अपने अंदर जो खामी है उसको तो समझते ही नहीं है है ना हाँ शक्ति है धनासक्ति है सुविधा शक्ति है सुविधा शक्ति है कि हमारे शरीर को कितनी सुविधा चाहिए सुविधा शक्ति है इतनी तो आसक्तियां अभिमान है तो ऐसा पुरुष यदि कर्म न करे तो क्या करेगा यदि ये हम न बरते हम जातो कर्मण्य तंत्रता श्री कृष्ण भगवान कहते हैं लोग कर, मम वर्तमान थे मनुष्य सर्वता कर्म छोड़ देंगे लोग और यदि कर्म छोड़ देंगे तो नारायण तमोगुण से ग्रस्त हो जाएंगे आलस्य निद्रा प्रमाद निकम्मापन कर्म छोड़ देने से आ जाएगा तो जो निद्रा आलस्य प्रमाद में जाने वाले लोग हैं हीन दृष्टि है हो है ना वो जुआ खेलना पसंद करते हैं संध्या वंदन करना पसंद नहीं करते हैं तो, तो वो विषय की पूजा करना आवश्यक समझते हैं परंतु भगवान की पूजा करना आवश्यक नहीं समझते वो अपने मुंह से दूसरे की निंदा कर सकते हैं परंतु भगवान का नाम नहीं ले सकते तो ऐसे जो हीन दृष्टि वाले लोग हैं उनके लिए ईश्वर दृष्टि पूर्वक ईश्वर भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म जो हैं वो करने चाहिए क्योंकि ईश्वर भाव जो है वो ऊपर ले जाएगा और जो ईश्वर भाव में लगे हुए हैं उनको ईश्वर भाव रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए उनके लिए श्रुति में कर्म का और उपासना का वर्णन है उपासनोपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया और जो उत्तम दृष्टि संपन्न है जिनकी दृष्टि उत्तम है देखो ईश्वर को कार्य मानने से विनाश की प्राप्ति तो होती है, है? चाहे दुनिया में किसी को तुम ईश्वर मानो पार्थिव लिंग से लेकर के हिरण्य गर्भ पर्यंत है ना उसमें गाय भी है उसमें ब्राह्मण भी है उसमें साधु भी है उसमें माँ बाप भी है उसमें पति पुत्र भी है और उसमें सालग्राम नर्मदेश्वर है ना और नाना प्रकार के चित्र विचित्र भी हैं परंतु मृत्यु तो कार्य के साथ लगी हुई है ना उसमें ईश्वर बुद्धि तो तुम्हें जोर लगा के ही तो करनी पड़ेगी एक, एक स्वामी दयानंद जी का आपने सुना होगा शिवरात्रि का व्रत करके मंदिर में रह रहे थे हो तो चूहिया चढ़ी शंकर जी पर और अक्षत खाने लगी अब देखो श्रद्धा जो है ना वो कितनी सुकुमार है इतने से ही उनकी श्रद्धा टूट गई कि अरे चूहिया शंकर जी के सिर पर चढ़ गई और चावल खाती है तो ये बचाते क्यों नहीं है कोई ये दर्शन शास्त्र का तर्क नहीं है वो ये न्याय मीमांसा का कोई अकाट्य तर्क है ना ये वेदांत का कोई अकाट्य तर्क नहीं है परंतु केवल श्रद्धा पर आदमी है ना पांव रखे डगमगाता रहता है बोला कब धक्का लग जाए श्रद्धा है बहुत अच्छी चीज पर ईश्वर दृष्टि रहे हाँ, ईश्वर दृष्टि रहे तो नारायण श्रद्धा चलती रहेगी हो हाँ। हमारे एक सज्जन थे उन्होंने जरा शक्कर अक्कर मिठाई उठाई सालग्राम पर ज़्यादा चढ़ाया और धोने के समय स्नान के समय भूल गए भूल गए तो कौवे उठा ले गया उनको अब रो गए हाय हाय हाय हमारे सालग्राम भगवान क्या हुए क्या हुए क्या हुए है ना रूठ गए भगवानों हाथ <laughs> किसी के मन में शंका हुई कि भाई अरे कोई शक्कर अक्कर लगा था कहाँ स्नान तो शक्कर से कराया था तो उन्होंने तजवीज किया तो एक कौए का घोंसला था वहां है ना वो मिल गए वो फिर तो वो कहने लगे हाय भगवान हमसे ज्यादा कौए को पसंद करता है तो ए, आपको मैं ये हंसी उड़ाने के लिए ये बात नहीं सुना रहा हूं बोला अगर ईश्वर दृष्टि होगी ना तो सालग्राम चित्र पुराने पड़ जाते हैं कि नहीं तो दूसरे कर लेते हैं सालग्राम भी दूसरे आ जाते हैं हाँ पर ईश्वर दृष्टि बनी रहे नारायण ईश्वर दृष्टि होगी तो दुख ज्यादा नहीं होगा अब उत्तम दृष्टि क्या है उत्तम दृष्टि ये है कि जो कार्य जाना जाता है वो विनाशी है और जिसकी हम कारण रूप में उपासना करते हैं वो अदृश्य है वो तो हमारे सामने नहीं है हमारी बुद्धि से पीछे है कारण और हमारी बुद्धि के सामने है कार्य और बुद्धि स्वयं है कार्य तो बुद्धि जिसके साथ खेलती है वो है कार्य और बुद्धि जिसके साथ सोती है वो है कारण है तो कारण के कारण में मिलने के समय तो बुद्धि सो जाती है समाधि लग जाती है सो जाती है और कार्य के साथ खेलने के समय बुद्धि अपने बच्चे के साथ खेलती है तो जो जिज्ञासु होते हैं वो ये विचार करते हैं कि असल में परमात्मा का स्वरूप क्या है तो बोले भाई बुद्धि से बड़े तो हम हैं तो कैसे कब बुद्धि सोवे तो और बुद्धि जागे तो दोनों में हम रहते हैं तो आत्मा बारे द्रष्टव्य करे बाबा आत्मदर्शन करो अपने आप को जानो ये उत्तम दृष्टि हुई हो उत्तम दृष्टि तो बोले आखिर वेद को ये क्या जरूरत पड़ी कि वो एक से कहे कि आत्मा को जानो एक से कहे कि उसकी उपासना करो एक से कहे कि कर्म करो बोले कि बाबा ये वेद जो है ना अनुकंपया वेद भगवान है तेषा एवा अनुकंपाथम अहम अज्ञान जम तमहा दीपे न भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम भगवान कहते हैं कि उनके ऊपर मैं कृपा करता हूं किसके ऊपर मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम् सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगम् तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् वो तो हमारे सामने नहीं है हमारी बुद्धि से पीछे है कारण और हमारी बुद्धि के सामने है कार्य और बुद्धि स्वयं है कार्य तो बुद्धि जिसके साथ खेलती है वो है कार्य और बुद्धि जिसके साथ सोती है वो है कारण है तो कारण के कारण में मिलने के समय तो बुद्धि सो जाती है समाधि लग जाती है सो जाती है और कार्य के साथ खेलने के समय बुद्धि अपने बच्चे के साथ खेलती है तो जो जिज्ञासु होते हैं अहम अज्ञान जम तमह नाशयाम्यात्म भावस्थो तो भगवान क्या करते हैं बोले अरे वो तो उनकी ओर जब कोई चलता है ना प्रेम से तो मसाल लेके हाथ में जला के मसाल हम्म, अरे मसाल न समझते हो तो टार्च समझो बोला है जैसे तुम किसी के घर जा रहे हो उससे मिलने के लिए उसका दर्शन करने के लिए और वो वो टार्च हाथ में लेके आया कि भाई जब तुम उनके घर जा रहे हो तो रास्ते में कोई तकलीफ ना हो है ना तुम नदी पर जाके खड़े फिकर कर रहे हो कि हम कैसे नदी पार करें कैसे नदी में कूदे कैसे तैरें कैसे उसके पास पहुंचे है ना उसने उस पार से देख लिया हो और खुद नाव फेंक ले आया है और तुम्हें गद्दे पर बैठा लिया बोले बैठ जाओ हम तुमको खेक ले चलते हैं हम तुम्हें टार्च दिखा के अपने घर ले चलते हैं है ना ये ना ईश्वर की अनुकंपा हुई आश्रय सौकर्या पादकत्व अपने पास पहुंचने में सुविधा कर देना तो वेद क्या करते हैं तो वेद तो ज्ञान रूप है वेद क्या करते हैं तो बोले अपने पास पहुंचने में सुविधा कर देते हैं तो जिनको कार्य में ईश्वर है ऐसी उपासना करता उपदेश करते हैं उनको भी ईश्वर के पास खींचते ज्ञान के पास खींचते हैं और जिनको कारणोपासना का उपदेश करते हैं उनको भी अपने पास खींचते हैं क्योंकि दोनों की समुचित उपासना एक में एक साथ की हुई ईश्वर दृष्टि से सालग्राम की उपासना करो है ना और ईश्वर की निराकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान रूप में उपासना करते हुए भी उसको घट घट बासी समझो है ना ये कार्य दृष्टि कारण में कार्य दृष्टि क्या है का ईश्वर को कारण रूप जानते हुए भी घट घट बासी समझना और घट घट की पूजा करते हुए भी उसमें व्यापक रूप से ईश्वर को देखना दोनों मिला के आगे चले कहिए उपदेश क्यों किया कहिए वेद भगवान बड़े कृपालु बड़े करुणा वरुणालय अनुकंपया उनके हृदय में वेद को पुरुषवत पुरुषवत कृत्य हाँ, वेद भगवान का पुरुष के समान वर्णन करते हैं हाँ, जैसे कोई किसी अंधे को देखे है ना और उसको उठा के मोटर में बैठा ले कि चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं अपनी जगह पर है ना जैसे कोई अनाथ है गरीब है बालक है है ना और उसको उसके घर पहुंचा दिया रास्ता है ना किसी को रास्ता ही बता दिया तुम इस रास्ते चले जाओ हाँ तो खुद उठा के पहुंचा देना छोटे छोटा बच्चा हो अंधा हो है ना गरीब हो अनाथ हो तो उसको खुद उठा के पहुंचा देना है ना ये अनुकंपा हुई है ना और समझदार है तो उसको रास्ता बता देना है ना एक सज्जन हो करपात्र जी महाराज यहां आए हुए थे तो उनसे मिलना चाहते थे तो उनको किसी ने बता दिया था कि नरीमान पॉइंट पर वो उधर से दूसरी बिल्डिंग है उसमें ठहरे हुए हैं यही प्रेम कुटी के पास अब वो आदमी आवे हैं बार बार घूमे कभी उसियाना की तरफ जाए कभी शालीमार की तरफ जाए कभी प्रेम कुटी की तरफ जाए कभी उस बिल्डिंग में जाए रंग वाले जिसमें रहते हैं है ना लेकिन कर्पात्री जी का पता ना लगे कौन सी बिल्डिंग है कौन सी बिल्डिंग है है ना अब हम लोग आए तो खड़ा था वन तो वो बिल्डिंग कौन सी है जिसमें करपात्री जी हैं अरे भाई तुम तो जिस बिल्डिंग में वो ठहरे हैं उसके नीचे खड़े हो यही है बोले कि मैं सवेरे से दस दफे यहां आके खड़ा हो चुका और लोगों से पूछ चुका हमको पता नहीं लगा है तो ये क्या है कि देखो ईश्वर को तुम सर्वांतर यामी मानते हो तो क्या वो ये तुम्हारी आंख कान नाक जीव दिल दिमाग के अंतर्यामी नहीं है अच्छा उनको सर्वव्यापक मानते हो तो क्या तुम्हारे शरीर में व्यापक नहीं है, है? अंत प्रविष्ट शास्त्रा जनानाम वो तुम्हारे भीतर बैठ करके हुकूमत कर रहे हैं है? क्या वो तुम्हारे अंदर नहीं है जहां तुम्हारे मन में ये इच्छा उठती है कि हम गुड़ खाएं और जहां ये इच्छा उठती है कि हम ईश्वर की तरफ चलें इस इच्छा के मूल में बैठा हुआ कौन है जो इन इच्छाओं को देखता है इन इच्छाओं को जानता है इन इच्छाओं का मूल है वो कौन है देखो तुमको चाट खाने की इच्छा हो ना तो यहाँ इच्छा होगी और यहाँ से चल के दुकान पर जाना पड़ेगा और वहां चौक चाट लेके खाना पड़ेगा लेकिन अगर ईश्वर को पाने की इच्छा होती है तो क्या तुमको ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा होने पर यहां से चल के किसी दुकान पर जाने की जरूरत है, है? कहीं दूसरी जगह ईश्वर मिलेगा क्या अभी साहब बाथरूम में है घंटे भर इंतजार करनी पड़ेगी हाँ, हाँ। ये बड़े बड़े जो सेठ होते हैं ना हाँ, नारायण के पास फोन करो बोले साहब बाथरूम में घंटे भर बात करना वो बाथरूम में तो क्या क्या करेंगे घंटे भर हाँ ग्यारह बजे दिन में लोग बताते हैं अभी साहब सो ही रहा है हाँ नारायण तो ईश्वर तो सोता नहीं रहता है है ना वो तो कहीं बाथरूम में फंसा नहीं रहता है हैं अच्छा उसको तुमसे मिलने में कोई परहेज नहीं है तुम्हारा कोई कर्ज वर्ज तो उसके ऊपर है नहीं कि मांगने जा रहे हो है तो ईश्वर के मिलने में देर क्या है कि जहां इच्छा उदय हुई उसके है ना उसके प्रारंभिक भाग में ईश्वर स्थित है इच्छा के प्रारंभिक भाग में और इच्छा के अंतिम भाग में भी स्थित है और इच्छा के मध्य भाग में भी स्थित है जहां तुम्हारे दिल में इच्छा फुरफुरा रही है है ना वहां जरा ईश्वर को ढूंढो तो अंतर्यामी हो तो बोला सर्वज्ञ हो तो निराकार हो तो सर्वव्यापी हो तो वैष्णवों का शैवों का शाक्तों का हो तो और वेदांतियों का हो तो और ईसाई मुसलमानों का हो तो ईश्वर तो वो है ना कि जहां जब है ना जिससे इच्छाओं का उदय विलय हो रहा है वहां वहीं ईश्वर मौजूद है तो श्रुति ने उन उत्तम अधिकारियों को जिनको भटकने की जरूरत नहीं है है ना इदम तीर्थम इदम तीर्थम काम्यंति तामसा जना देखो पुराण का वचन है बोला किसी वेदांती है ना अब के आधुनिक वेदांती का वचन नहीं है पुराण का वचन है इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्राम्यंति तामसा जना आत्मतीर्थम न जानती कथम मोक्ष प्रिय अरे तुम्हारे दिल में जो सब तीर्थों का तीर्थ है जहां से ज्ञान गंगा निकली है है ना जहां से भक्ति जमुना प्रवाहित होती है वो तीर्थ जहां से तत्वमस्यादि महावाक्य जन्या सरस्वती निकलती है वो तीर्थ कहाँ है कि तो तुम्हारे हृदय में है ना वो जगत कारण है जगत कारण रूप ज्योतिर्लिंग कहाँ है कब वो जगत कारण रूप साल ग्रामवत है ना अंडकोश जो है अंड ब्रह्मांड है ना वो दोनों दो दो चीज के हो हा ज्योतिर्लिंगवत हा ज्योतिर्लिंगवत और मूल कारणवत ब्रह्मांड गोलवत है ना वो सालग्राम शिला कहाँ है तो वो सालग्राम शिला तुम्हारे हृदय में है वो ज्योतिर्लिंग तुम्हारे हृदय में है वो बीज में शयन करने वाले बीज जल में नारायण तुम्हारे हृदय में है है ना हाँ, ब्रह्मा तुम्हारे हृदय में विष्णु तुम्हारे हृदय में शिव तुम्हारे हृदय में हिरण गर्भ तुम्हारे हृदय में निराकार ईश्वर तुम्हारे हृदय में वेदांतियों ने कहा है ना कि बाबा ढूंढने कहा जा रहे हो आत्मा बा अरे द्रष्टव्य तुम जरा अपने आप को तो देखो कहते हैं एक आदमी ने सायंकाल नया जूता पहना हो और रात को पीली ताड़ी और कहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसको ये ख्याल हुआ कि हम तो खूब आराम से आनंद से सो रहे हैं सो गया इतने में बैल गाड़ी आई चलती हुई सड़क पर उसने कहा हे उठो कौन सो रहे हो उसने देखा फिर याद आया कि मैंने शाम को नया जूता पहना था अब रात को जब साड़ी के नशे में सो गया ना तो किसी ने नया जूता निकाल लिया उसका और पुराना जूता पहना दिया अब वो उठा बोला क्या बात बोले उठो उठो अमुक बोले नहीं नहीं ठहरो मैं वो नहीं हूं हाँ, हाँ। मैं तो नए जूते वाला था ये तो पुराने जूते वाला है तो ये मैं नहीं हूं है ना आदमी जब जूते को ही अपनी माने चाम को ही जब अपनी पहचान है ना अपनी पहचान बना ले चाम को कि वही चाम वाला है ना वही खून वाला वही हड्डी वाला वही जीव वाला वही वासना वाला कब मैं नारायण ये बिल्कुल झूठी बात है आत्मा बारे द्रष्टव्य आत्मा बारे द्रष्टव्य आत्मा का दर्शन करो कि कैसे दर्शन करें तो ये उत्तम अधिकारी की बात है जगत में ईश्वर को ढूंढना कार्य दृष्टि है और आंख बंद करके सुषुप्ति समाधि में ईश्वर ढूंढना है ना ये कारण दृष्टि है है ना और अपने आप को ढूंढना ये कार्य कारणातीत दृष्टि है क्योंकि ये कार्य का भी साक्षी है और ये कारण का भी साक्षी है ये कभी कार्य होके मरता नहीं और ये कभी कारण होके जन्मता नहीं है ना कारण जो है वो कार्याकार जन्म ग्रहण करता है और कार्य मर करके कारण हो जाता है तो जो कार्य मर के फूट के कारण हो जाता है वो मैं नहीं हूं और जो कारण जन्म के कार्य बन जाता है का तो वो कारण मैं नहीं हूं जन्मने वाला कारण और मरने वाला कार्य तो ये दोनों मैं नहीं हूं तो तब मैं कौन हूं ज्ञान स्वरूप दृष्टा तो कैसे मालूम पड़े श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है ना आओ ये मशीन से ढूंढने पर नहीं मिलेगा ये दूरबीन खुरदबीन की चीज नहीं है नारायण जो विषय है उसको हम आत्मा ही नहीं बोलते हैं विषयी को आत्मा जिसको विषय का ज्ञान होता है उसको आत्मा बोलते हैं अच्छा उसमें भी जो अनित्य है उसको आत्मा नहीं बोलते जो नित्य है उसको आत्मा बोलते हैं विषय और विषयी अनित्य और नित्य अरे दृश्य को आत्मा नहीं बोलते हैं दृष्टा को आत्मा बोलते हैं अरे भाई दृष्टा को आत्मा नहीं बोलते कि जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद कल्पित है है ना जो इस कल्पना का अधिष्ठान है जो प्रकाशक है जो स्वयं प्रकाश है है ना और ये सारी बात केवल आपके ऊपर कृपा करके कही गई है सचमुच नारायण कि ये स्वयं प्रकाश है सर्वाभाषक है है ना का उस कल्पना का अधिष्ठान है कल्पना का प्रकाशक है कि ये सारी बातें जिज्ञासुओं पर कृपा करके उत्तम जिज्ञासुओं पर कृपा करके श्रुति ने कहा है स्वेन सोन अन्वेष्टव्य सब ब्याह उसका अन्वेषण करो उसकी जिज्ञासा करो वेदांत की जिज्ञासा में और संसार की जिज्ञासा में एक बड़ा भारी फर्क है हमारे तो कई विचारक घबरा जाते हैं है ना कोई जब ये पूछने के लिए आवेगा ना कि घड़ा क्या है घड़ी क्या है तो हम हाथ में अपने उठावेंगे और उसके हाथ में दे देंगे ये घड़ी है तो जिज्ञासा पूर्ति हो गई ना है जिज्ञासा पूर्ण करके हमने घड़ी का ज्ञान कराया और कोई आके पूछेगा कि आत्मा क्या है तब क्या यही तरीका होगा कि घड़ी की तरह आत्मा उठा के उसके हाथ में दे दें ये तरीका नहीं होगा ये होगा कि जिज्ञासा माने क्या बोले तो ज्ञान की इच्छा अच्छा ये ज्ञान की जो इच्छा है ये तुमको हो रही है कि दूसरे को हो रही है है ना ले हो तो हमको ही रही है तो ये जिसको ज्ञान की इच्छा हो रही है उसका नाम आत्मा है जब ज्ञान की इच्छा नहीं थी तब भी तुम थे तुम खुद अपने बारे में पूछ रहे हो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अर्थ ये कि तुम स्वयं अपने बारे में पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं तो जिज्ञासा आपके बाद काट देंगे हो जिज्ञासा है ना घड़ी मिलने से घड़ी की जिज्ञासा पूर्ण होगी और जिज्ञासा कटने से आत्मज्ञान होगा हाँ, बिल्कुल इसमें कोई बाकी कुछ नहीं बचता इसमें उपलब्धि नहीं है इसमें शेष नहीं है और इसमें उपलब्धि है नहीं है आत्मा अनात्मा का ऐसा विभाग है है ना कि भाई जरा बांटो तो कितना आत्मा कितना अनात्मा तो बांटते बांटते क्या होगा नारायण है तो बांटते बांटते क्या होगा तो बोले आत्मा और अनात्मा में विभाग ही नहीं रहेगा इसलिए न शेष बचेगा और न तो उपलब्धि होगी ज्यो का त्यों ना कछु हुआ न है कछु ना कछु हो अनहार अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार तो भाई ये अधिकारी कार्योपासना के द्वारा अंतकरण शुद्धि ईश्वर भाव पूर्वक और सर्व कार्य में व्यापकता का भाव करते हुए ईश्वर की उपासना और दोनों का जो दृष्टा है उसका अनुसंधान ये तीन प्रकार के अधिकारियों के लिए तीन प्रकार की उपासना बताई गई है उस उपासनोपदिष्टेयम कर्म उन्हीं के लिए उपासना उन्हीं के लिए ज्ञान उन्हीं के लिए तो ये दयालु वेद की अनुकंपा है कि मनुष्य सन्मार्गामी होकर के एकत्व दृष्टि को प्राप्त करे क्योंकि श्रुति कहती है यन मनसान मनुते जेनाहुर्मनोमताम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते जिसका मन से मनन नहीं किया जाता वो चार विभाग आपके ध्यान में होगा विषय और विषयी संपूर्ण जगत विषय है और आत्मा विषयी है और संपूर्ण जगत अनित्य है और आत्मा नित्य है ये दूसरा विभाग है और जगत दृश्य है और आत्मा दृष्टा है विषय और विषय में और दृश्य और दृष्टा में फर्क होता है करणों के द्वारा जगत को देखना यह विषय विषय भाव है और करण के बिना सुषुप्ति पर्यंत जगत को देखना साक्षी भाव से जगत जो देखना है का ये दृश्य और दृष्टा का विवेक है और ये दृश्य दृष्टा जिसमें कल्पित हैं वो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व है तो ये चार विभाग करके और जो शंका है अपने मन में उसको दूर करो ये मन से मन से जिसका मनन होता है जो मनन का कर्म है जो मनन का विषय है वो नहीं जो मन को प्रकाशित कर रहा है उसको तुम ब्रह्म समझो मन का प्रकाशक जो आत्मा है ना उसको ब्रह्म समझो नेदम यदि तुम उपास हाँ। जिसकी तुम यह यह उपासना कर रहे हो है? वो नहीं तत्वमसी वेदम सर्वम इत्यादि श्रुति तो जिसकी उपास अन्य समझ करके जिसकी उपासना करते हो ना अन्यो सावन्यो मस देखो अन्य की उपासना उत्तम दृष्टि नहीं है मध्यम दृष्टि और केवल कर्म परायणता हीन दृष्टि और आत्मदर्शन जो है वो सम्यक दर्शन है क्योंकि श्रुति सिद्ध का बोध करती है और जिसको ये बोध हो गया है उसके लिए कोई विधि और निषेध नहीं है और निस्त्रय गुणी पथि विचारता को विधि को निषेध निष्क्रैगुण्य मार्ग में जो विचरण करते हैं उनके लिए क्या विधि है और क्या निषेध है ये करो ये मत करो ये उनके लिए नहीं पूर्ण स्वातंत्र है परम स्वातंत्र है और यही उनका सुख है तो बोले भाई शास्त्र और युक्ति से तो ये सिद्ध हो हुआ कि अपने आत्मा को अद्वय रूप में जानना सम्यक दर्शन है और इस सम्यक दर्शन से जो बहिर्भूत है वो मिथ्या दर्शन है तो बोले कि एक बात और देखो उपयोग की दृष्टि दृष्टि से ये बात बता रहे हैं स्व सिद्धांत व्यवस्था सुनो निश्चिता दृढ़ परस्परम विरुध्यंते तैरयम न विरुद्यते अद्वैत को बोलते हैं अभिवादो अविरुद्धश्च देखो सोने में दो तस्वीर बना दी जाए आमने सामने से एक और रावण और एक और राम दोनों आपस में लड़ रहे हैं परंतु ये लड़ाई तो वो जो मूर्ति बनी है सोने में उनमें है है ना रावण राम पर और राम राम रावण पर हाँ, जो अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं वो मूर्ति पर चला रहे हैं सोने में कहीं लड़ाई है, है? देखो घड़े पर डंडा मारो तो घड़े और डंडे में लड़ाई है लेकिन डंडे में जो आकाश है और घड़े में जो आकाश है उसमें कहीं लड़ाई है आकाश तो दोनों का एक ही है तो द्वैत दर्शन जो है वो राग द्वेशादि दोषास्पद है मतलब देखो चार बाक भी द्वैत मानते हैं है ना परस्पर भेद मानते हैं तो स्त्री पुरुष का भेद मानते हैं समझो हाँ। दुखी सुखी का पशु पक्ष पशु मनुष्य का भेद मानते हैं चार बाक मानेगा कि नहीं मानेगा है ना मिट्टी पानी आग का भेद मानता है अच्छा और जैन भी भेद मानते हैं है ना पर दोनों में एक राय है क्या कि न्याय भी भेद मानता है और और सांख्य भी भेद मानता है न्याय बोलता है परमाणुओं से सृष्टि हुई और सांख्य बोलता है प्रकृति से सृष्टि हुई और दोनों जीवात्मा को अलग मानते हैं सांख्य दृष्टा पुरुष के रूप में और न्याय कर्ता कर्ता भोक्ता के रूप में लेकिन दोनों में कोई मेल है क्या वो उनका खंडन करने पर तुले हुए हैं और वो उनका खंडन करने पर तुले हुए हैं तो बोले अरे दोनों में समन्वय है कहा हा समन्वय तुम कर लो बोला एक समन्वय का भी नारायण है ना असल में हम समन्वय जब करते हैं तो अपनी दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं हो जिनका समन्वय करते हैं ना उनको तो बिल्कुल बट्टे खाते में डाल देते हैं हम गौतम और कपिल का समन्वय कर देते हैं लेकिन गौतम और कपिल जब आपस में इकट्ठे होंगे तो उनका क्या कभी समन्वय होगा वो आपस में क्या समन्वय की बात करेंगे ये देखो एनी बेसेंट कहती थी कि ईसाई धर्म का सार जो है हिंदू धर्म का सार जो है वो एक ही है है ना थियोसोफिकल सोसाइटी में आ जाओ उसने समन्वय कर दिया हो ईसाई धर्म का हिंदू धर्म का समन्वय कर दिया लेकिन कहीं वैदिक पंडितों ने माना कि ईसाई धर्म के साथ हमारा समन्वय है कहीं ईसाइयों ने माना कि वैदिक धर्म के साथ हमारा समन्वय है आओ हम लोग होम करेंगे और देवता की पूजा करेंगे ये ईसाई और यज्ञोपवीत पहनेंगे ऐसा ईसाई मानने लग जाए हैं और हिंदू मानने लग जाए कि हम बपतिस्मा करावेंगे है ना और नारायण ऐसा मानेंगे परमहंस रामकृष्ण कहेंगे कि समन्वय है नारायण परंतु उन उन धर्म वाले थोड़े ही कहेंगे कि पर समन्वय है वो तो दूसरे धर्म को नीचे दबा के अपने धर्म को ऊपर उठावेंगे तब उनका धर्मावेश पूरा होगा तो कबीर हम कहेंगे भाई उस धर्म में भी तो बड़ी बढ़िया बात है तो बोलेंगे कि अरे बस उसी की वजह से तो चल रहा है नहीं तो और तो कुछ है ही नहीं <laughs> ये नारायण ये समन्वय हम लोग अद्वैत दृष्टि से असल में करते हैं और कहते हैं चार बाग देखो क्या करता है दुनिया का मोह मिटाता है हैं? जैन क्या करते हैं का महापुरुषों पर श्रद्धा उत्पन्न करते हैं हैं बौद्ध क्या करते हैं का प्रपंच हाँ, प्रपंच के शून्य शून्यत्व का निश्चय करके हमारी वासना के मिटाने में सहायक होते हैं है? न्याय वैशेषिक क्या करते हैं बोले ईश्वर की स्थापना करते हैं हाँ। मीमांसा क्या सांख्य योग क्या करते हैं का आत्म विवेक करते हैं मीमांसा क्या करती है का श्रुत्यर्थ निरूपण की प्रक्रिया बताती है कि ये सब काहे के लिए हैं कि ये सब अंत में अंत में वेदांत में पहुंचाने के लिए हैं अरे ये तो हमने कहा हाँ जरा जैमिनी से पूछो कि तुम तुम क्या वेदांत में पहुंचाते हो गौतम से पूछो कि तुम क्या वेदांत में पहुंचाते हो का अपने अपने सूत्रों में खंडन करते हैं तो असल में द्वैतवादी जो लोग हैं उनमें परस्पर मेल होना बड़ा कठिन है है ना शिव का गोरापन और नारायण का कालापन मिला करके अगर कोई नई मूर्ति बनाई जाए तो जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी तीसरी बन गई वैसे वो तीसरी मूर्ति बन जाएगी वो संप्रदाय तीसरा हो जाएगा हाँ। स्मार्थ पांचों की पूजा करते हैं नारायण तो वो भी जब पूजा करते हैं तो एक को बीच में बैठाते हैं कि यहाँ विष्णु प्रधान है ऐसा यहाँ शिव प्रधान है यहाँ स्मार्थों स्मार्थ सिद्धांत को लोग कम जानते हैं वो वो है स्मार्ट लेकिन लोग उसको हाँ, है ना हाँ। तो, <laughs> तो आओ सबकी पूजा करो है ना थोड़ी थोड़ी सबकी सबका आदर करो भाई तो है ना ये तो एक का अनादर और एक का आदर करने की अपेक्षा सबका आदर करना ये तो स्मार्ट ही हुआ ना आदर करना लेकिन फिर भी जब पूजा करते हैं तो उनको एक एक की प्रधानता माननी पड़ती है ये बात है तो समन्वय कौन करता है कि समन्वय हम लोग करते हैं द्वैतवादी तो आपस में परस्पर विरुद्ध हैं और अद्वैतवादी बोले अभिवादो अविरुद्ध हाँ। शिव अवच्छिन्न चैतन्य और विष्णु अवच्छिन्न चैतन्य गणेशावच्छिन्न चैतन्य और सूर्यावच्छिन्न चैतन्य है ना गणेशोपाधिक सूर्योपाधिक देवी उपाधिक चैतन्य है ना और गणेश देवी सूर्य आदि का अधिष्ठान और गणेश देवी सूर्य आदि का प्रकाशक एक अखंड चैतन्य है बोले अद्वैत ने कहा हमारे तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना सब में हम और सब हम में हमारे तो कोई झगड़ा ही नहीं इस दृष्टि से भी देखें तो परस्परम विरुद्धंते वे एक दृश्य दूसरे दृश्य का विरोधी होता है और दृश्य दृष्टा के विरोधी नहीं होते दृश्य दृश्य के विरोधी होते हैं अधिष्ठान के विरोधी नहीं होते रज्जू में कल्पित जो सर्प है ना वो माला नहीं है और रज्जू में कल्पित जो माला है वो सर्प नहीं है और दो आदमी लड़ रहे हैं कि ये सर्फ है कि माला है ये माला है कि सर्फ है दो आदमी लड़ रहे हैं लेकिन जो जानता है कि न सर्फ है न माला है क्या है बोले रस्सी है उसको उसके ऊपर उस लड़ाई का कोई असर पड़ेगा है ना तो दो रूप पकड़ के दो नाम पकड़ करके दुनिया में लोग अपना दिल खराब कर रहे हैं जो सब नामों में सब रूपों में अनुगत है और सबसे व्यावृत्त है और जिसमें नाम रूप जो है केवल उपासना की दृष्टि से कल्पित है नारायण है ना वो जो तत्व है तो उसमें तो किसी का विरोध ही नहीं है अगर कोई अविरोधी सिद्धांत है तो ये ग्रंथकार कहते हैं कि ये अद्वैत सिद्धांत ही अविरोधी है अच्छा भाई अब कल सुनाएंगे दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान्तर्गत पश्यन्नात्मनिमायया वैर्य भूतम यथा निद्रया यत्साक्षात् गुरुदे प्रबोधसमये स्वात्मानमित्वा स्वयं श्री श्रीगुरुमूर्तये पूर्णमिदम् श्रीदक्षिणामूर्ते शास्त्र और युद्ध दोनों से ये निश्चित हुआ है अद्वयात्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है और जो शास्त्र और युक्ति से विरुद्ध है वो मिथ्या दर्शन है अब और कारण बताते हैं कि द्वैत दर्शन मिथ्या दर्शन क्या है स्व सिद्धांत व्यवस्था सुवैतिनो निष्ठिता दृढ़ परस्परं विरुद्धियन्ते तैरयं न विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेदमुच्यते तेषामुभयथाद्वैतं तेनायं न विरुध्यते मायया सिद्ध्यते ये तत् नान्यथाजं कथञ्चन तत्व तो भी के